अध्याय पा हिंसक मनुष्य तारों से एक का जन्म हुआ एक से दो का दो से तीन का और तीनों से श्रेष्ठ ब्रह्मांड का उदय हुआ श्रेष्ठ ब्रह्मांड के पीछे ज्ञान का बात है और उसके आगे ज्ञान का तीन का बात है और उसके आगे ज्ञान का इन्हीं व्यापक सिद्धांतों के योग से वह लयबद्धता को प्राप्त होता है अनाथ अयोग और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है तो भी राजा और भूमिपति अपने को इन्हीं नामों से पुकारते हैं क्योंकि चीजें कभी घटाई जाने से लाभ को तो प्राप्त होती है और बढ़ाई जाने से हानि को दूसरों ने इसी सूत्र की शिक्षा दी है मैं भी वही सिखाऊंगा हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है इसे ही मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानूंगा chapter twelve forty two the in man out of out of tower one is ball out of one two out of two three out of three created universe The created universe carries the yin at its back and the yang at its front. Through the union of the pervading principles, it reaches harmony. To be orphan, lonely, and unworthy is what men hate most. Yet the princes and Jews call themselves by such names. For sometimes things are benefited by being taken away from and suffer by being added to. Others have taught this maxim, which I shall teach also. The violent man shall die a violent death. This I shall regard as my spiritual teacher. Tao से एक का जन्म हुआ ताओ पर्यायवाची है शून्य का वेदांत जिसे एक ब्रह्म कहता है ताओ उससे भी पीछे जिसे वेदांत एक ब्रह्म कहता है अद्वैत कहता है लाओ से बेहतर वो भी ताओ से पैदा हुआ ताओ को एक भी कहना उचित नहीं ताओ है शून्य ताओ है स्वभाव इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है स्वभाव ही एकमात्र अस्तित्व है बाकी सब स्वभाव से पैदा होता है इस स्वभाव को मानने स्वीकार करने के लिए कोई विश्वास कोई शास्त्र आवश्यक नहीं स्वभाव हमारे भीतर उसी भांति मौजूद है जैसा पूरा अस्तित्व है उसे हम यही और अभी इस क्षण भी जान ले सकते हैं ब्रह्म एक सिद्धांत है ईश्वर एक धारणा है लेकिन ताओ एक अनुभव है ताओ का अर्थ है तुम जिससे पैदा हुए जो तुम्हारे भी पहले था और तुम जिसमें लीन हो जाओगे और जो तुम्हारे बाद भी होगा ताओ का कोई व्यक्तित्व नहीं है इस सागर में लहरें उठती हैं ऐसा स्वभाव में अस्तित्व की व्यक्तित्व की लहरें उठती हैं ये जो ताओ है इसे कोई धार्मिक अधार्मिक विभाजन में बांटने की जरूरत नहीं नास्तिक भी इसे स्वीकार कर लेगा इसलिए का विचार नास्तिकता और आस्तिकता का अतिक्रमण कर जाता है ईश्वर को नास्तिक स्वीकार करने को राजी नहीं होगा ब्रह्म को शायद अस्वीकार करेगा आत्मा के संबंध में विवाद उठाए लेकिन स्वभाव के संबंध में कोई विवाद नहीं है विज्ञान जिसको नेचर कहेगा अल्लाह से उसी को ताओ कह रहा है इस ताओ को एक भी कहना उचित नहीं क्योंकि हम गणना उसी की कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा हो और एक भी हम तभी कह सकते हैं जब दो और तीन होने का उपाय हो ताओ शून्य ही हो सकता है जिससे सारी संख्याएं पैदा होती हैं और सारी संख्याएं जिसमें लीन हो जाती ताओ स्वयं कोई संख्या नहीं है जहां से संख्या शुरू होती है वहीं से संसार शुरू हो जाता है देश ने तो एक पूरे विचार पद्धति को जन्म दिया जिसका नाम सांख्य सांख्य का अर्थ है अस्तित्व की संख्या संख्या की गणना जहां से सांख्य शुरू होता है वहां से संसार शुरू हो जाता है जिसकी हम गणना कर सके जिसे हम गिन सके जिसकी हम कोई धारणा बना सके और जिसकी परिभाषा हो सके वो हमसे छोटा होगा तो जिसका हम अध्ययन कर सके मनन कर सके सोच विचार कर सके वो हमसे छोटा होगा हमसे जो विराटतर है जिससे हम पैदा होते हैं उसकी कोई गणना नहीं हो सकती उसकी कोई संख्या नहीं हो सकती उस संबंध में हम जो भी कहेंगे वो गलत होगा उस संबंध में हम सिर्फ चुप और मौन ही हो सकते हैं इसलिए लाओस से कहता है ताओ से एक का जन्म हुआ ताओ के बाद जो भी जगत में है उसे समझने का उपाय है उसकी परिभाषा भी हो सकती है उसके सिद्धांत भी निर्मित हो सकते हैं उसे शास्त्र में बांधा जा सकता है लेकिन ताओ के संबंध में कोई सिद्धांत कोई बुद्धि कोई विचार काम नहीं आएगा अगर ताओ को पहचानना हो तो सोचने की समझने की संख्या को गिन लेने की जो क्षमता है जो बुद्धिमत्ता है उसे हमें त्याग देना पड़े जैसे ही हम विचार छोड़ते हैं वैसे ही शून्य में प्रवेश हो जाते हैं अगर आपके भीतर कोई विचार की तरंग नहीं है तो आप जहां होंगे वही ताओ है अगर कोई भी कंपन नहीं भीतर चेतना में कोई भी लहर नहीं अकंप कोई विचार नहीं बनता आकाश खाली है कोई विचार का बादल नहीं तैरता उस क्षण में आप जहां होंगे वही ताओ है लेकिन उस क्षण में अकेले आप ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा ये पूरा संसार भी नहीं होगा और आप भी ऐसे नहीं होंगे कि कह सकें कि मैं हूं सिर्फ होना मात्र होगा इसे कहते ही से तो एक का जन्म हो जाएगा कि मैं हूं और जैसे ही इसे कहेंगे वैसे ही दूसरे का भी जन्म हो जाएगा क्योंकि किससे कहेंगे कि मैं हूं जैसे ही कोई कहता है मैं हूं संसार शुरू हो गया इसलिए परम ज्ञानियों ने कहा है जब तक मैं न छूट जाए तब तक सत्य का कोई अनुभव नहीं होगा क्योंकि मैं के साथ ही संसार खड़ा हो जाता है इधर मैं निर्मित हुआ कि वहां तू क्योंकि बिना तू के मैं निर्मित नहीं हो सकता और जहां दो आ गए वहां श्रृंखला शुरू हो गई एक का जन्म होता है ताओ से एक से दो का दो से तीन का इसे थोड़ा समझ ले ताओ अगर शून्य स्वभाव है तो जैसे ही हम कहते हैं मैं एक का जन्म हो गया लाओसे की भाषा में अस्मिता का बोध अहम बोध संसार का प्रारंभ है वो बीज है जैसे ही मैंने कहा मैं मैं किसी से कहूंगा किसी की अपेक्षा में कहूंगा कोई सुनता हो चाहे न सुनता हो लेकिन जब भी मैं कहता हूं मैं हूं तो मैं दूसरे की अपेक्षा नहीं कहता हूं वो मौजूद ना भी हो तो भी दूसरा मौजूद हो गया शब्द अकेले में व्यर्थ है दूसरे के साथ ही उसकी सार्थकता है भाषा अकेले में व्यर्थ है दूसरे के साथ संवाद या विवाद में ही उसका उपयोग है जैसे ही मैंने कहा मैं मैं एक सेतु है जो मैंने दूसरे के ऊपर फेंका एक ब्रिज मैंने बनाया दूसरा आ गया और जैसे ही दूसरा आया तीसरा प्रविष्ट हो जाता है क्योंकि दो के बीच जो संबंध है वो तीसरा है मैं हूं आप है फिर मेरे मित्र हैं या मेरे शत्रु हैं या पिता हैं या बेटे हैं या भाई है या मेरे कोई भी नहीं जैसे ही दूसरा आया कि संबंध और तीन निर्मित हो जाते हैं और ऐसे संसार फैलता है लेकिन मैं की घोषणा उसका आधार है इससे पीछे लौटना हो तो मैं की शून्य का उपाय है जैसे ही कोई व्यक्ति मैं को खोता है पूरा संसार खो जाता है इसलिए जो संसार को छोड़ने में लगते हैं वे व्यर्थ की मेहनत करते हैं संसार छोड़ा नहीं जा सकता जब तक मैं हूं क्योंकि मेरे मैं के कारण ही मैंने संसार चारों तरफ निर्मित किया है बनाया है वो मेरे मैं की ही उत्पत्ति है जब तक मैं हूं तब तक ग्रस्ती मिट नहीं सकती जहां मैं हूं वहां मेरा घर और मेरी ग्रस्ती निर्मित हो जाएगी क्योंकि जहां मैं हूं वहां संबंध पैदा हो जाएंगे तो जो घर को छोड़ के भागता है वो व्यर्थ ही भागता है क्योंकि घर का बीज तो भीतर छिपा है जो संसार को छोड़कर हिमालय जाता है वो व्यर्थ जाता है क्योंकि हिमालय में भी संसार निर्मित हो जाएगा मैं जहां भी रहूंगा वही संसार निर्मित हो जाएगा क्योंकि मैं मूल हूं मैं वृक्ष से बातें करूंगा और मैत्री निर्मित हो जाएगी और वृक्ष पर तूफान में गिर जाएगा तो मैं रोऊंगा और दुख और पीड़ा निर्मित हो जाएगी मैं जहां हूं वहां आसक्ति होगी संबंध होंगे संसार होगा और ठीक संसार में खड़े होकर अगर मेरा मैं शून्य हो जाए तो वहीं मैं ताओ में प्रवेश कर जाऊंगा वही स्वभाव निर्मित हो जाए वही मैं उस मूल शून्य में खो जाऊंगा जहां से सबका जन्म होता है ताओ से एक का जन्म हुआ एक से दो का दो से तीन का और तीन से सृष्ट ब्रह्मांड का उदय हुआ एक दो तीन गहरे प्रतीक है और अगर आप तीसरे को मिटाने से शुरू करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं जैसे कोई आदमी वृक्ष के पत्ते काटता हो और सोचता हो कि वृक्ष नष्ट हो जाए एक पत्ते की जगह दो पत्ते आ जाएंगे वृक्ष समझेगा आप कलम कर रहे हैं संसार तो आखिरी बात है वो तो पत्ते मैं जड़ मेरे बिना कोई संसार नहीं हो सकता इसका यह अर्थ नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो वृक्ष पर्वत लोग नहीं रहेंगे वो रहेंगे लेकिन मेरे लिए वो संसार न रहे जैसे ही मैं मिटता हूं वैसे ही उनके ऊपर जो आवरण थे व्यक्तित्व को वो मेरे लिए खो जाएंगे मुझे उनके भीतर का सागर दिखाई पड़ने लगे उनकी लहरों की जो आकृतियां थी वो मेरे लिए व्यर्थ हो जाएंगी लहरों के भीतर जो छिपा था सागर वही सार्थक हो जाए मेरे लिए संसार मिट जाए संसार का मिटना दृष्टि का परिवर्तन है मैं के बिंदु से जब मैं देखता हूँ अस्तित्व को तो संसार है और जब मैं मैं शून्य होकर देखता हूँ तो वह कोई संसार नहीं वहां जो शेष रह जाता है वही ताओ वही स्वभाव है स्वभाव का अर्थ वही आखिरी तत्व है जिससे सब पैदा होता है और जिसमें सब लीन हो जाता वो तो बेसिक आधारभूत अस्तित्व है सृष्ट ब्रह्मांड के पीछे इनका वास है और उसके आगे यान का इन्हीं व्यापक सिद्धांतों के योग से वह लयबद्धता को प्राप्त होता है अलाउस की दृष्टि समस्त विरोधों के बीच संगीत को खोज लेने की है जहां जहां विरोध है वहां वहां विरोध को जोड़ने वाली कोई लयबद्धता होगी और जब तक हमें लयबद्धता न दिखाई पड़े तब तक हम भ्रांति में भटकते रहेंगे स्त्री है पुरुष है स्त्री भी दिखाई पड़ती पुरुष भी दिखाई पड़ता है लेकिन दोनों के बीच एक लयबद्धता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती और जब भी स्त्री पुरुष उस लयबद्धता में आ जाते हैं तो उसे हम प्रेम कहते हैं लेकिन प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ता और जब भी स्त्री पुरुष के बीच की वो लयबद्धता टूट जाती तो घृणा पैदा हो जाती घृणा भी दिखाई नहीं पड़ती व्यवहार दिखाई पड़ता है दो व्यक्ति घृणा में हो तो दिखाई पड़ता है दो व्यक्ति प्रेम में हो तो दिखाई पड़ता है प्रेम दिखाई नहीं पड़ता घृणा दिखाई नहीं पड़ती प्रेम है दो विरोधी तत्वों का लयबद्ध हो जाना उनके बीच का विरोध शत्रुता में न रह जाए बल्कि विरोध के कारण ही एक लय पैदा हो जाए विरोध परिपूरक हो जाए कॉम्प्लीमेंटरी हो जाए तो प्रेम का जन्म होता है जीसस ने बार बार कहा है कि परमात्मा प्रेम है और अगर जीसस के वचन का अर्थ समझना हो तो लाओसे में खोजना पड़ेगा कि प्रेम का क्या अर्थ है प्रेम का अर्थ है दो विरोधों के बीच लयबद्धता और जहां भी दो विरोध के बीच लयबद्धता होती है वहां सृष्टि बड़े अनूठे श्रृंगार में उत्सव में जन्म लेती आपका पूरा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच एक लयबद्धता है और जब आप पूरी तरह जीवंत होते हैं तो उसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि मृत्यु और जन्म की जो प्रक्रिया है उसका सारा विरोध खो गया बच्चे को हम पूरा जीवंत नहीं कहते क्योंकि बच्चे में जन्म का प्रभाव ज्यादा है मृत्यु का अंश कम बूढ़े को हम पूरा जीवित नहीं कहते क्योंकि तो इसमें मृत्यु का प्रभाव ज्यादा हो गया और जीवन का जन्म का अंश कम हो गया ठीक जवान आदमी को हम शिखर पर मानते हैं जीवन के उसका कुल इतना ही अर्थ है कि ठीक जवानी के क्षण में मृत्यु और जन्म दोनों संतुलित हो जाते दोनों दोनों बाजू तुला की एक रेखा में आ जाती जवानी एक संगीत है जन्म और मृत्यु के बीच बचपन अधूरा है बुढ़ापा अधूरा है एक सूर्योदय है एक सूर्यास्त है लेकिन जवानी ठीक मध्य बिंदु है जहां दोनों शक्तियां संतुलित हो जाती स्त्री पुरुष या अगर हम विज्ञान की भाषा का उपयोग करें तो ऋण और धन विद्युत पोलरिटी से विरोधी ध्रुव और जहां दोनों संतुलित होते वही एक गहन प्रगाढ़ शांति और उस प्रगाढ़ शांति में एक क्रिएटिविटी एक रचनात्मक ऊर्जा का जन्म होता है लाउसे का नाम है इन और यान इन्हें वो दो विरोधी तत्व कहता है चाहे स्त्री पुरुष कहे चाहे ऋण धन कहे उसका शब्द है इन और यान अल्लाह से कहता है इन दोनों विरोधों के बीच जो लयबद्धता है वही ताओ है लेकिन हम या तो पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं हम एक ध्रुव से बंधे होते हैं एक विरोधी अंग से और इसलिए हम दूसरे विरोधी अंग की तलाश करते हैं स्त्री पुरुष को खोज रही है पुरुष स्त्री को खोज रहा है जन्म मृत्यु को खोज रहा है मृत्यु पुनः जन्म को खोज रही है वो जो विरोधी है उसके बिना हम अधूरे इसलिए उसकी खोज जारी रहती है ये थोड़ा समझने जैसा है कि हम सब जीवन में अपने से विपरीत को खोजते हैं आपकी सारी खोज विपरीत की खोज है अगर आप गरीब हैं दीन है दरिद्र हैं तो धन को खोज रहे और बड़े मजे की बात है कि जिनके पास सच में धन हो जाता है वो दरिद्रता को खोजने में लग जाते महावीर है बुद्ध है इनके लिए धन का आकर्षण नहीं ये परम दरिद्र होने की खोज कर रहे हैं जीसस कहते हैं धन है वे जो दरिद्र है हम जब भी कुछ खोजते हैं तो विरोध को खोजते हैं तो इससे बड़ी कठिनाइयां पैदा होती विरोधी को हम खोजते हैं लेकिन विरोधी के साथ रहना एक महान कला है क्योंकि वो विरोधी पुरुष स्त्री को खोज रहा है अक्सर वाइल्ड ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं स्त्री के बिना भी नहीं रह सकता और स्त्री के साथ तो बिल्कुल नहीं रह पाता स्त्री के बिना रहना मुश्किल अधूरापन है और स्त्री के साथ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि विपरीत है विरोध है और हर बात में कल है विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं लेकिन वो विपरीत है और जब निकट आएंगे तो कलह शुरू हो जाएगी प्रेमियों की कलह अनिवार्य है क्योंकि प्रेम का मतलब ही है कि विपरीत को आकर्षित किया है फ्राइड ने तो बड़ा ही निराशाजनक दृष्टिकोण लिया उसका कहना है कि आदमी कभी भी सुखी हो नहीं सकता आदमी का होने का ढंग ऐसा है कि वो दुखी ही होगा क्योंकि जो भी वो चाहता है अगर न मिले तो दुखी होता है अगर मिल जाए तो भी दुखी होता है और दो ही विकल्प दिखाई पड़ते हैं लाउसे के हिसाब से तीसरा विकल्प है और वो है विरोध के बीच लयबद्धता पुरुष जब तक स्त्री को खोजेगा दुखी होगा स्त्री जब तक पुरुष को खोजेगी तब तक दुखी होगी और जब स्त्री पुरुष के बीच की लयबद्धता को वे खोजने में लग जाते हैं तो सुख की पहली किरण उतरनी शुरू होती है वास्तविक प्रेम का जन्म उस दिन होता है जिस दिन स्त्री पुरुष के बीच जो प्रवाह है जो ऊर्जा का अदृश्य प्रवाह है वो ख्याल में आना शुरू हो जाता है विरोध के बीच में जो संगम विरोधियों के बीच में जो बहती हुई धारा है दो किनारों के बीच जो बहती हुई नदी है जब वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती तो ही जीवन में सुख की कोई संभावना उतरती है और जैसे ही किसी व्यक्ति को ये लयबद्धता दिखाई पड़नी शुरू हो जाती विरोधी का आकर्षण भी खो जाता है इस लयबद्धता की प्रतीति योग कहता है ध्यान है तंत्र कहता है महासमाधि महासंभोग का क्षण लाओ से कहता है इन और यांग के बीच एक संगीत का जन्म है जहां भी आपको आकर्षण दिखाई पड़े दो बातें समझ लेनी जरूरी है पहला कि जिससे भी आप आकर्षित हो वो आपका विपरीत होगा इसलिए आप खतरे में उतर रहे हैं कोई भी व्यक्ति अपने समान से आकर्षित नहीं होता समान के प्रति एक तरह का विलगाव होता है रिपल्सन होता है एक विकर्षण होता है समान से हम दूर हटते हैं असमान हमें खींचता है ठीक वैसे जैसे धन और धन विद्युत एक दूसरे को हटाएंगे ऋण और धन विद्युत चुंबकीय हो जाएंगे और करीब आ जाएंगे समान से विकर्षण विपरीत से आकर्षण नियम इसलिए जिससे भी आप आकर्षित होते हैं वो आपका विपरीत है दूसरी बात विपरीत जैसे ही निकट आएगा उपद्रव द्वंद्व शुरू हो जाएगा विपरीत दूर हो तो आकर्षित करता है पास आए तो चूंकि वो विपरीत है और विरोधी है संघर्ष पैदा होगा तीसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है जिससे भी संघर्ष पैदा हो सकता है उससे संगीत भी पैदा हो सकता है जहां जहां संघर्ष वहां वहां संगीत की संभावना है क्योंकि जहां जहां संघर्ष है वहां स्वरों का उत्पाद है और जहां स्वर उत्पाद में है वहां अगर कोई जानता हो कला तो वे लयबद्ध हो सकते हैं दो समान के बीच तो स्वर पैदा नहीं होते समान के बीच स्वर ही पैदा नहीं होता इसलिए संगीत का कोई उपाय नहीं असमान के बीच स्वर पैदा होते हैं घर्षण होता है प्रश्न अंत नहीं उसे अगर नियोजित किया जा सके उसे अगर बांधा जा सके उसे अगर व्यवस्था दी जा सके अनुशासन पैदा किया जा सके तो विपरीत के बीच जो लयबद्धता है ताओ और लाओस्य की मान्यता है वही योग है वही कला है विरोध को जोड़ देने की ये तीन बातें ख्याल में हों तो आप जीवन के किसी भी कोने से समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं फिर जीवन पूरा का पूरा एक साधना बन जाता है फिर जो भी आकर्षित करे आप जानते हैं वहां खतरा है और जान के ही आप उस भूमि पर पैर रखते हैं खतरा है इसलिए संभावना भी है वहां कुछ गलत हो सकता है तो कुछ ठीक भी हो सकता है जहां गिरने का डर है वहां चढ़ने की सुविधा भी है जब समतल भूमि पर आप चलते हैं तो गिरने का कोई डर नहीं है क्योंकि चढ़ने का कोई उपाय नहीं इसलिए जीवन में प्रेम सबसे खतरनाक घटना है वो तलवार की धार पर चलना है बड़ा उत्पात होगा बड़ी अराजकता होगी जीवन विपरीत के संघर्ष से भर जाए अगर यही कोई रुक गया तो जो पत्थर सीढ़ी बन सकता था उसे आपने बाधा मान ली और आप वापस लौट गए जो बाधा मालूम पड़ी थी वो सीढ़ी भी बन सकती है सिर्फ उसे कैसे पार किया जाए यही ख्याल में होना चाहिए ब्रह्मांड के पीछे इनका वास है और उसके आगे यान का इन्हीं व्यापक सिद्धांतों के योग से वह लयबद्धता को प्राप्त होता है प्रति क्षण जीवन की सारी गति विपरीत से बंधी है न केवल बंधी है बल्कि हर चीज अपने विपरीत में परिवर्तित हो रही है ये बहुत आश्चर्यजनक ख्याल है लाओसे का और अब विज्ञान भी उस राजी होता है हर चीज अपने से विपरीत में परिवर्तित होती रहती है न केवल विपरीत से आकर्षित होती है बल्कि विपरीत में परिवर्तित होती है स्त्रियों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनमें पुरुष तत्व प्रकट होने लगता है पुरुषों की जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है उनमें स्त्रीणता प्रकट होने लगती है स्त्रियां जैसे जैसे ज्यादा उम्र की होती जाएंगी कर्कश होने लगेंगी उनका स्वर पुरुष का होने लगेगा और उनके व्यक्तित्व में पुरुष जैसी कठोरता आने लगी पुरुष जैसे जैसे बूढ़े होने लगेंगे वैसे वैसे कोमल होने लगेंगे और उनके व्यक्तित्व में स्थिरता आने लगेगी न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से हार्मोन के तल पर भी ऐसा ही फर्क होता है चीज अपने विपरीत की तरफ डूबती रहती है बदलती रहती है अक्सर ऐसा होता है कि अगर इस जन्म में आप पुरुष हैं तो अगले जन्म में आप स्त्री हो जाए बहुत लोगों के पिछले जीवन में जांच कर इसे नियम की तरह कहा जा सकता है कि अगर आप इस जन्म में पुरुष हैं तो पिछले जन्म में स्त्री बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि आप इस जन्म में भी पुरुष हो और अगले में भी पुरुष उसके कारण क्योंकि जिससे आप आकर्षित होते हैं जिससे आप प्रभावित होते हैं और जिसकी आप कामना करते हैं वही कामना तो आपके अगले जन्म का निर्धारक तत्व होगी पुरुष तो स्त्री को चाह रहा है और स्त्री को सुंदर मान रहा है उसे लगता है कि स्त्री में कुछ रहस्य छिपा है और जीवन भर वो स्त्री के संबंध में सोचेगा स्वप्न और कल्पना उसके मन के सारे तार स्त्री के आसपास घूमेंगे उसके गीत उसकी कविताएं उसका संगीत सब स्त्री के आसपास घूमेगा इसका स्वाभाविक परिणाम यह होने वाला है कि अगला जन्म आपका स्त्री का हो जाए और स्त्री अनिश्चित ही पुरुष होना चाहती है कोई स्त्री स्त्री होने से तृप्त नहीं है स्त्री पुरुष से प्रभावित और आकर्षित है इस जीवन में भी आप विरोधी की तरफ धीरे धीरे बदलते जाते हैं और अगले जीवन में तो आप निश्चित रूप से विरोध में उतर जाते हैं इन यांग हो जाता है और यांग इन हो जाता है इसे ये तो लंबे विस्तार की बात लेकिन छोटे जीवन के क्षणों में भी इसे समझना जरूरी है अगर आप ठीक से क्रोध कर लिए हो तो तत्ण पीछे करुणा का जन्म होता है और अगर आप में करुणा का जन्म नहीं होता तो उसका अर्थ यही है कि आप क्रोध कभी ठीक से नहीं कर वो ऑथेंटिक नहीं है प्रमाणिक नहीं है जब भी आप पूरी प्रमाणिकता से क्रोधित हो जाते हैं तो उसके बाद क्षण आप पाएंगे कि करुणा का जन्म हो रहा है विपरीत में चित्त जा रहा है जब भी आप गहरा प्रेम करते हैं तो उससे तृप्त हो जाएंगे और प्रेम के बाद विरोध और घृणा और संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी जैसे रात के बाद दिन है और दिन के बाद रात है ऐसा ही आपके चित्त का प्रत्येक पहलू अपने विपरीत के साथ जुड़ा हुआ है और जब भी एक पहलू तृप्त हो जाता है तो दूसरे पहलू का जन्म हो जाता है मनस्वित कहते हैं कि नैतिक शिक्षण ने मनुष्य के जीवन से बहुत सी चीजें छीन ली क्योंकि हम लोगों को झूठा होना सिखाते हम कभी किसी बच्चे को नहीं कहते कि जब तुम क्रोध करो तो ठीक से और पूरी तरह ईमानदारी से क्रोध करना हम उसे झुठलाने की कला सिखाते हैं हम उसे कहते हैं अगर क्रोध आ भी जाए तो भी तुम छिपाना पी जाना चेहरे पर मत प्रकट होने देना यही सुसंस्कृत होने का लक्षण मुस्कुराते रहना ढांक लेना क्रोध को और हमारी आकांक्षा ये है कि शायद ऐसा व्यक्ति जो क्रोध नहीं करता बहुत प्रेम कर पाएगा वो भ्रांत है क्योंकि जिस जिस मात्रा में इसका क्रोध अप्रमाणिक हो जाएगा उसी उसी मात्रा में इसका प्रेम भी अप्रमाणिक हो जाएगा तभी मुस्कुराएगा ऊपर से प्रेम प्रकट करेगा और भीतर इसके कोई उद्भाव पैदा नहीं होगा जब आप प्रेम में होते हैं तभी आपने ख्याल किया कि भीतर कुछ भी नहीं होता जिससे आपको एक नाटक कर रहे जिससे कुछ काम है जो पूरा कर रहे बच्चा सामने आ जाता है तो उसका सिर आप थपथपा देते लेकिन भीतर कुछ नहीं होता मुस्कुरा देते हैं उसको गले भी लगा लेते हैं लेकिन भीतर कुछ भी नहीं होता एक औपचारिकता है जो आप निभाते आदमी बुरी तरह झूठ हो गया और उसका कारण है कि हम भय के कारण कि कहीं कुछ आदमी गलत न हो जाए कहीं क्रोध करके अड़चन में न पड़ जाए जो जो नकारात्मक है उसको हम रुकवाते हैं लेकिन उसके साथ विधायक भी रुक जाता जो आदमी प्रमाणिक रूप से प्रेम करेगा वो प्रमाणिक रूप से क्रोध भी करेगा उस समय तक जब तक कि आप ताओ को उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक इस विरोध में ही आपको जीना पड़ेगा और इस विरोध में जीना हो तो प्रमाणिक रूप से जीने से ही संभावना है कि किसी दिन आप लयबद्धता को उपलब्ध हो जाएं। अप्रमाणिक आदमी के लिए तो कोई उपाय नहीं क्योंकि वो जीवन की धारा से उसका कोई संबंध ही नहीं है ऊपर ऊपर सब ऊपर ऊपर है उसकी प्रार्थना उसकी पूजा उसका प्रेम उसकी घृणा उसकी दुश्मनी उसकी मित्रता सब ऊपर ऊपर किसी बात से उसके कोई प्राण आंदोलित नहीं होते इसे थोड़ा प्रयोग करके देखें अगर जीवन में किसी चीज की कमी मालूम पड़ती हो लगता हो कि दया की कमी है करुणा की कमी है तो थोड़ा समझने की फिक्र करें उसका मतलब होगा आपका क्रोध अप्रामाणिक है क्रोध बनावटी है वो वास्तविक नहीं है जहां करना है वहां आप नहीं करते हो जहां नहीं करना है वहां आप करते हैं ऐसे झूठे क्रोध के साथ जो जी रहा है लाख उपाय करे तो भी अहिंसक नहीं हो सकता उसकी अहिंसा भी इतनी ही थोथी और उथली हो जैसे घड़ी का पेंडलम जितने दूर तक बाएं जाएगा उतने ही दूर तक बनाया जा सकता है आप सोचते हो कि बाएं तो बिल्कुल न जाए और दाएं खूब दूर तक जाए तो आप गलती में क्योंकि दाएं जाने के लिए बाएं जाकर ही शक्ति इकट्ठी की जाती इसलिए पश्चिम में मनोवैज्ञानिक एक बहुत नया शिक्षण दे रहे हैं वो पूरब को बहुत हैरान करने वाला है पश्चिम को भी हैरान करने वाला है और वो ये है कि आपके जो भी मनोभाव है उनमें आप ईमानदार हैं अगर पति पत्नी के बीच कोई लगाव नहीं रह गया और सब चीजें सूखी हो गई हैं रसहीन हो गई तो उन्हें कितना ही समझाया जाए कि वे प्रेमपूर्ण हो जाए व्यर्थ होगा उन्हें समझाना होगा कि वे प्रमाणिक हो जाए कल ही एक युवक और युवती मेरे पास आए दोनों प्रेम में और विवाह करना चाहते हैं तो युवती ने मुझे कहा कि हम विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन इधर कुछ दिनों से आपस में काफी क्रोध क्रोध पैदा हो जाता है छोटी छोटी चीज में चिड़चिड़ाहट नाराजगी और एक दूसरे पर टूट पड़ने की वृत्ति हो तो मैंने उन्होंने पूछा कि सिर्फ टूट पढ़ने की वृत्ति या तुम टूट भी पढ़ते हो तो कहा कि नहीं आप भी कैसी बात करते हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि टूट पढ़े शारीरिक रूप से उन्होंने कोई एक दूसरे पे हमला नहीं किया है तो मैंने उनको कहा कि जब तुम प्रेम करोगे तब भी वो वो प्रेम भी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं हो सकता अगर तुम सारे रूप से प्रेम की गहराई में उतरना चाहते हो तो क्रोध के क्षण में भी मन से नीचे शरीर तक आओ और डर क्या है सिर्फ क्रोध को सोच के क्यों हो और प्रेम को इतना कमजोर क्यों मानते हो कि झगड़ पड़ोगे एक दूसरे को चोट पहुंचा दोगे तो प्रेम टूट जाएगा इतना कमजोर प्रेम चलेगा भी कैसे प्रबंधन का तुम एक प्रयोग करो अब जब तुम्हें दोबारा क्रोध आए तो तुम सिर्फ सोचना ही मत और दबाना मत तुम उसे निकाल देना और फिर लौट के मुझे खबर देना सुबह ही वो आए थे सांझ उन्होंने मुझे खबर भेजी क्या आश्चर्यजनक है क्रोध के बाद हम इतने हल्के हो गए और पहली दफा इन महीनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उदय हुआ है और हम इतने करीब हूं जितने हम पहले कभी नहीं थे विपरीत में एक संबंध है और मनुष्य कहते हैं कि प्रेमी लड़के दूर हो जाते ताकि फिर पास आने का आनंद ले सके अगर दूर होने का डर है तो पास होने का आनंद भी नष्ट हो जाए जब दो प्रेमी लड़के दूर हो जाते हैं तो फिर नए ताजे हो गए जैसे वो पहले दिन जब मिले होंगे दूर थे उस दिन की स्थिति में पहुंच गए फिर से पास आना फिर एक नया हनीमून फिर एक नई शुरुआत फिर वे ताजे अगर जीवन के द्वंद को हम ठीक से समझें तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं प्रेम किया है तो क्रोध के लिए तैयार होना चाहिए और अगर ये ख्याल में हो कि इस क्रोध के माध्यम से हम प्रेम की क्षमता को पुनः पा रहे हैं तो ये क्रोध भी दुखद नहीं रह जाए ये भी खेल हो जाए और जो व्यक्ति प्रेम भी कर सकता है और क्रोध भी कर सकता है और दोनों में प्रमाणिक है बहुत शीघ्र ही उसमें क्रोध और प्रेम के बीच में जो लेबर होता है उसकी प्रती होनी शुरू हो जाएगी और तब प्रेम भी गुण हो जाएगा क्रोध भी गुण हो जाएगा लयबद्धता ही प्रमुख हो जाएगी ये दोनों किनारे गुण हो जाएंगे बीच की सरिता ही पर वो सरिता अदृश्य और जीवन के भावों में जब तक आप ठीक ठीक ईमानदारी से प्रयोग न करें उस अदृश्य का आपको कोई पता नहीं चलता लेकिन हम भयभीत और डरे हुए लोग और हमारे भय ने हमारे सारे जीवन को विषाक्त कर दिया फिर हम जो भी करते हैं वो अधूरा अधूरा है अपन उसके कोई पैर नहीं वो कहीं ले जाता नहीं हम जीते हैं मरे हुए क्योंकि जीवन के किसी भी क्षण को हम अपनी पूर्णता नहीं देते किसी भी दिन अगर वैज्ञानिक ढंग से आदमी का चरित्र विकसित किया जाएगा तो उसे सिखाया जाएगा प्रमाणिक होना प्रमाणिक होने का मतलब यह है कि जो भी तुम्हारी भाव दशा हो उसमें तुम पूरे ही जूझ जाना जो भी परिणाम हो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना परिणाम के डर से हम पूरे जीवन को ही गंवा देते हैं जो भी परिणाम हो प्रमाणिकता का वो बुरा नहीं होगा उससे लाभ होंगे उससे आपकी आत्मा का जन्म होगा और जो भी लाभ दिखाई पड़ते हो अप्रमाणिक और झूठे होने के में ही लाभ दिखाई पड़ते महानता आपकी आत्मा का आनंद और आखिर में आप पाएंगे कि आपने आत्मघात कर लिया अपनी होशियारी में ही आप डूब मरे लाओस से कहता है इन और यान ये दो विरोधी तत्व हैं कोई स्त्री पुरुष का है या जो भी नाम देना हो प्रकृति पुरुष का है इन दोनों के बीच एक लयबद्धता है ये दो तो दिखाई पड़ते ये दो किनारे साफ ये दृश्य इनके बीच बहने वाली धारा अदृश्य और अरूप उस अरूप को देखने के लिए इन दोनों किनारों को स्पष्ट रूप से दोनों किनारों को स्पष्ट रूप से पकड़ लेना होगा इसमें जरा भी बेईमानी और आदमी भटक जाता है जो भी हमें मिला है बुरा है या भला है शुभ है या अशुभ विधायक है या नकारात्मक हमें मिला है स्वभाव से जरूर उसमें छिपा हुआ कुछ रहस्य जल्दी उसे निंदा ना करें और जल्दी उसके त्याग की चिंता ना करें त्याग इतना आसान नहीं त्याग तो केवल वे ही कर पाते हैं जो इन दोनों के बीच संतुलन को खोज लेते उनके किनारे अपने आप छूट जाते हैं जिसको धारा मिल गई वो फिर किनारों की चिंता नहीं करते वो छूट ही जाते हैं जिसको धारा मिल गई वो न फिर पुरुष रह जाता और न स्त्री जिसको बीच का संतुलन मिल गया संगीत मिल गया वो न विधायक रह जाता न नकारात्मक न इन और न यहाँ वो दोनों एक साथ हो जाता है दोनों के एक साथ पार हो जाता है इस पार अतिक्रमण करने वाली कला को ही लाओसे ने योग कहा है अनाथ अयोग और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है थोड़ा समझना अनाथ अयोग अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है तो भी राजा और भूमिपति अपने को इन्हीं नामों से पुकारते हैं क्योंकि चीजें कभी घटाई जाने से लाभ को प्राप्त होती हैं और बढ़ाई जाने से हानि को अनाथ अयोग्य और अकेला ये हमारे भय है अकेले होने से हम बहुत भयभीत हैं शायद इससे बड़ा कोई भी भय नहीं कोई भी अकेला नहीं होना चाहता कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का सांप चाहिए अगर हम अकेले हो भी जाए किसी कारणवश परिस्थितिवश तो भी हम चिंतन करते हैं दूसरों का ताकि कम से कम कल्पना में कोई दूसरा रहे और हम बिल्कुल अकेले न हो जाए कवि कहते हैं कि परिजनों से दूर होने पर प्रेम बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि परिजन दूर होते हैं तो हम उनका चिंतन करते हैं पास होते तो चिंतन की कोई जरूरत नहीं रह जाती सब्सटीट्यूट तो है कल्पना जो हमारे पास नहीं उसकी हम चिंतना करते हैं चिंतना करके हम एक काल्पनिक शांत पैदा कर लेते उपवास के दिन आदमी भोजन का विचार करते उन्हें मालूम किस किस प्रकार के भोजन की सोचता है अनजाने ही अचेतन में ही ये प्रवाह उठने लगता है और जब तक आदमी उपवास करके भोजन की सोचता रहा तब तक उसका उपवास बिल्कुल व्यर्थ गया वो सिर्फ भूखा मरा क्योंकि उसे उपवास अभी आया ही नहीं उपवास का अर्थ ही यह है कि भोजन का ख्याल न हो भोजन पेट में डालने से भी ज्यादा भोजन ख्याल में न डाला जाए तो उपवास हुआ अकेले होने का अर्थ दूसरे का कोई विचार ना हो अकेले होने में मौज हो प्रसन्नता हो दीनता ना हो लेकिन अकेले होने से सभी डरते और सभी अकेले हैं इसलिए सभी भयभीत क्योंकि जिस शब्द से हम छूट नहीं सकते उस शब्द से हम भयभीत हैं हर आदमी अकेला है अकेला ही पैदा होता है अकेला ही जीता है भ्रम पैदा करता है कि कोई सांप है इतना कोई किसी के सांस हो नहीं सकता सब सांप काल्पनिक अब दूसरा सोच रहा है आप उसके साथ आप सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे साथ ना आपको चिंता है दूसरे को साथ देने की ना दूसरे को चिंता है आपको साथ देने की एक दूसरे का शोषण दूसरे की मौजूदगी से आपको लगता है भरा पूरा लगता है अकेला नहीं हो लेकिन अकेला होना एक सत्य है और जब तक हम अकेले होने की क्षमता न जुटा लें तब तक हम अपने स्वभाव से परिचित ना हो सके अकेले भी नहीं हो सकते तो स्वयं को कैसे हम जानेंगे अकेले होने की तैयारी चाहिए चाहे कितना ही भय मालूम हो असुरक्षा मालूम हो चाहे कितना ही मन करे कि सांप खोज लो तो भी अकेले होने का साहस करना चाहिए अभी बड़े मजे की घटना दुनिया में घटती हम जो कुछ भी खोज करते हैं उस सब खोज के अंतिम परिणाम में हम अकेले हो जाते हैं एक आदमी धन की तलाश करता है और अकेले होने से डरता है और जितना ज्यादा धन उसके पास होने लगेगा उतना ही समाज उसका छोटा होने लगेगा अब वो सभी से नहीं मिल सकेगा अब उन थोड़े से लोगों से मिल सकेगा जो उसके स्टेटस उसकी हैसियत के और वो धन इकट्ठा करता जा रहा है लोगों को पीछे छोड़ता जा रहा है एक घड़ी आएगी जब वो अकेला हो जाएगा जब उसकी स्टेटस का उसकी हैसियत का कोई भी ना होगा इसी के लिए जीवन भर उसने कोशिश की कि मैं आखिरी स्टेकर पर पहुंच जाऊं गौरी शंकर पर खड़ा हो जाऊं और जब वो गौरी शंकर पर खड़ा हो जाएगा तब हार्ट अटैक हो जाएगा क्योंकि तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा अब कोई संगी साथी ना रहा राजनीतिक कुछ मुसीबत न पड़ जाता यात्रा करते करते जब वे चोटी पे पहुंच जाते तब अचानक पाते हैं कि बिल्कुल अकेले हो गए उनका कोई संगी साथी नहीं धन की खोज हो कि पद की खोज हो बड़े विचारक बड़े वैज्ञानिक इस हालत में पहुंच जाते क्योंकि आइंस्टीन को लगता है किससे बात करे क्योंकि तो उसकी भाषा भी कोई नहीं समझे पत्नी है जरूर लेकिन आंसले बहुत हो गए आइंस्टीन आइंस्टीन रह के अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकता विल्हम रेक की पत्नी के मैं संस्मरण पड़ता था विलम फ्राइड के बाद एक बहुत क्रांतिकारी कीमती मनोवैज्ञानिक हो उसकी पत्नी ने लिखा है कि मैं रेप को कुछ भी समझ नहीं पाई यह आदमी पागल था कि प्रतिभाशाली था ठीक था कि गलत था कुछ भी कहना मुश्किल है विशिष्ट था इतना ही कहा जा सकता कुछ विशिष्ट था और कोई संबंध नहीं हो सकते पहली पत्नी ने तलाक दिया फिर दूसरी पत्नी ने छोड़ा संबंध नहीं बन पाते क्योंकि जिस जगत में वो विचर रहा है वहां वो बिल्कुल अकेला है सभी बड़े विचारक उस हालत में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कोई उनका संगी साथी नहीं एक पर अनुभव होता है ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिनको पागल होना चाहिए वो तो पागल नहीं होते निक्सन पागल नहीं होते माओ पागल नहीं होते हिटलर पागल नहीं होता जिनको भी पागल होना चाहिए लेकिन बड़े विचारक विलियम लेक पागल हो जाते पागल खाने में मरता है ऊंचाई पर खड़े हो जाने की घटना घट जाती है मन में जहां से किसी से कोई संबंध नहीं रहा फिर घबराहट होगी और इसी की खोज की आप कहीं भी पहुंच जाए अगर आप ठीक से चलते ही गए तो अकेले हो जाएंगे अगर आपने ठीक प्रतिस्पर्धा की प्रतियोगिता की और संघर्ष किया तो ज्यादा से ज्यादा इतनी बात में आप सफल हो सके एक दिन आप अचानक पाएंगे आप अकेले आप कोई प्रतियोगी नहीं बचा और तब आप घबरा जाते इसलिए सभी सफलताएं अंत में असफलताएं सिद्ध होती क्योंकि अकेला कोई होना नहीं चाहता जब तक आप सफल नहीं हुए तब तक आप भीड़ भाड़ में तब तक कुछ करने को बाकी नाव से कहता है अकेले होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है अयोग्य होने से बड़ी घृणा करता है लेकिन लाओ से कहता है तुम्हारी योग्यता का मतलब क्या है और जब तुम योग होते हो तो उसका परिणाम क्या है से का बड़ा अद्भुत ख्याल है योग्यता के बाबत वो कहता है योग्यता का कुल मतलब इतना है कि लोग तुम्हें साधन की तरह उपयोग करेंगे अगर तुम योग हो बाप अपने योग बेटे से बड़ा प्रसन्न होता क्योंकि बाप जो जो महत्वाकांक्षा है पूरी नहीं कर पाया वो इस बेटे के कंधे पर सवार कर देगा ये योग बेटा ये पूरी करेगा जिस नासमझी में उसने अपनी जिंदगी गंवाई और वो अधूरी रह गई नासमझिया ये योग बेटा उनको पूरी करेगा योग पति से पत्नी बड़ी प्रसन्न होती और कुल परिणाम क्या होगा इस योग पति का कि धन को बढ़ाता चला जाए एंड्रू कार्नेगी ने कहीं कहा है किसी ने उससे पूछा कि तुम इतना धन कैसे इकट्ठा कर पाए दस अरब रुपया वो छोड़ के मारा उसने कहा कि मैं इकट्ठा कर पाया कहना मुश्किल है मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या मैं इतना धन भी इकट्ठा कर सकता हूँ जो मेरी पत्नी खर्च न कर सके मैं सिर्फ एक साधन था मगर मैं ये देखना चाहता था क्या ये हो सकता है कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं इतना धन कमा लू की मेरी पत्नी खर्च न कर लेकिन पत्नी खर्च कर रही पति योग वो दौड़ाए चली जा रही योग्यता का कुल परिणाम इतना होता है कि आपका शोषण होगा और क्या होगा जितने ज्यादा योग होंगे उतने ज्यादा लोग आपका शोषण करेंगे लॉन्स से बहुत अनूठा है वो कहता है कि तुम्हें योग बनने की कोशिश में मत पड़ना लाओस में कहता है अयोग अक्सर बच जाते हैं उपद्रव से योग पिस जाते हैं लेकिन संसार कहता है योग बनो क्योंकि तो संसार शोषण करना चाहता कुशल बनो संसार निंदा करता है अयोग योग की प्रशंसा करता है लेकिन संसार उसी की प्रशंसा करेगा जो बलि का बकरा होने को और सभी लोग भयभीत हैं कि अयोग न हो जाए क्यों भयभीत क्योंकि अयोग को संसार प्रतिष्ठा नहीं देता अहंकार की तृप्ति नहीं देता और क्या भय है अयोग को यही भय है कि अगर कोई कह दे तुम अयोग हो तो कोई मूल्य न रहा कोई कीमत न रही बाजार में कोई मूल्य न हो तो आदमी लगता है मैं निर्मूल्य हो गया लेकिन लाओस ने कहता तुम कोई वस्तु नहीं हो कि तुम्हारा मूल्य होना चाहिए और अगर योग हो के तुम्हारा कोई मूल्य है तो तुम्हारा मूल्य नहीं है किसी और चीज का मूल्य जो तुमसे ज्यादा हो रही तुम्हारा मूल्य तो तभी हो सकता है जब तुम बिल्कुल योग नहीं है फिर भी तुम्हारा कोई मूल्य सिर्फ तुम्हारा होने का मूल्य तुम हो इसे थोड़ा समझे आप अपने बेटे को प्रेम करते हैं क्योंकि योग है और अगर योग नहीं तो प्रेम नहीं करते आपका बेटे से प्रेम या बेटे से कुछ आप उपाय लेना चाहते हैं कुछ काम लेना चाहते हैं कोई साधन पूरा करना चाहते हैं तो बेटा एक उपकरण है एक मीन साध्य नहीं बेटा साध्य अगर हो तो उसकी योग्यता अयोग्यता अर्थ नहीं रखती फिर उसका होना उसका बीन उसका अस्तित्व मूल्यवान है आप प्रसन्न हैं क्योंकि वो है उसका होना काफी है उसके होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए अगर प्रेम का अर्थ समझे तो यही हो सकता है किसी व्यक्ति का होना बिना किसी बाजार के मूल्य के हिसाब के बिना इस धारणा के कि वो किसी साधन में किसी साधन का साधन बन सकता है सिर्फ उसका होना लाउसे ने बड़ी प्रशंसा की है अयोग्य होने की कला की लाउस से अपने संस्मरणों में कहीं कहा है एक गांव में एक आदमी कुबड़ा हंस है राजा ने सारे जवानों को पकड़ लिया क्योंकि युद्ध का समय था और हर व्यक्ति को फौज में जाना जरूरी था सिर्फ गांव में जो कुबड़ा आदमी था वो तो किसी काम का नहीं था उसे छोड़ दिया लाहौल से उसके पास गया और कहा कि धन्य हो तुम अगर तुम योग होते तो आज गए अयोग्यता ने ही तुम्हें बचाए तुम परमात्मा को धन्यवाद दो क्योंकि योग्यता मरेगी युद्ध के मैदान पर लॉ से हमेशा तलाश में रहता था कि अयुग का कैसा कवच पर हम योग होने के लिए इतने पीड़ित होते हैं वस्तु इसलिए कि हम योग नहीं असल में हम वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होता इसे थोड़ा समझें ये उल्टा लगेगा अयोग्य होने को तो वही राजी हो सकता है जो योग्य है ही और जिसकी योग्यता किसी बाह्य आधार पर निर्भर नहीं जिसके होने पर जिसके स्वभाव पर निर्भर है आप वही तो चाहते हैं जो आप में नहीं है योग्य होना चाहते हैं क्योंकि योग्य नहीं है अल्लाह उससे कहता है जो अयोग्य होने को राजी है उसने स्वभाव की योग्यता पाली अब उसे किसी बाहरी योग्यता की कोई भी जरूरत नहीं है उसका होना ही काफी धन्यता है हम सबके भीतर जो नहीं है उसे ढांकने की चेष्टा चलती है कमजोर आदमी शादी दिखना चाहता है हो सके तो अच्छा न हो सके तो कम से कम दिख सके कमजोर आदमी कमजोर नहीं दिखना चाहता सब तरह के उपाय करता है कोई तो उसकी कमजोरी न कर अयोग आदमी सब तरह की योग्यता का आवरण अपने आसपास खड़ा करता है तो कोई उसकी अयोग्यता न पहचान एडलर ने बहुत काम किया इस सदी में हीनता की ग्रंथि पर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स और उसने कहा कि जितने भी उपाय जगत में चल रहे हैं वो सब हीनता की ग्रंथि से पैदा होते हैं जिस संबंध में जो आदमी अपने को हीन अनुभव करता है उसकी पूर्ति में लग जाता है दौड़ने लगता है वो भयभीत है कि कोई उसके भीतर के भाव को देखने ले बड़ी आश्चर्य की बात है नीच से शारीरिक रूप से कमजोर था बहुत कमजोर आदमी था शक्तिशाली किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता बीमार कमजोर सदा रुग्ण लेकिन उसने सत्य की पूजा के लिए बड़ा काम किया और महानतम ग्रंथ उसने लिखा द विल टू पावर और नीचे कहता है कि मनुष्य की आत्मा एक ही चीज की कोशिश कर रही है वो है शक्ति की तलाश और निश्चय ने शक्तिशाली मनुष्य को इतना सम्मान दिया है कि किताबें पढ़ के ऐसा लग सकता है कि निश्चय बहुत शक्तिशाली रहा हो वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था की शक्ति की पूजा के आधार पर जर्मनी में हिटलर का फैसिज्म पैदा हुआ नाजीवाद पैदा हुआ क्योंकि निश्चय ने कहा कि ये जो नॉर्डिक जर्मन जाति यही महान शक्तिशाली जाति है और यही जन्मसिद्ध अधिकार है इसका भी सारे जगत पर राज्य कर वो खुद भी नॉर्डिक नहीं था न शक्तिशाली था पर उसकी अपनी हिंसा की ग्रंथि थी जो उसने नहीं कहा उसको उसने फैला के शास्त्रों में लिखा वो खुद कभी लड़ नहीं सकता था युद्ध के मैदान पे जाने की बात दूर रही लेकिन उसने लिखा है इस जगत में जो सबसे सुंदर दृश्य मुझे याद है वो है जब सैनिक दोपहर की चमकती धूप में अपनी संगीन लेके एक लयबद्ध कतार में चलते उनकी संगीनों पर जो चमक होती धूप की उससे बड़ा संगीत उससे महान संगीत मैंने अपने जीवन में दूसरा अनुभव नहीं किया वही सबसे सुंदर दृश्य है ये जो नहीं है भीतर उसकी पूर्ति की आकांक्षा है अगर हम अपने भीतर भी झांकेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमारे भीतर नहीं है उसी की पाने की हम कोशिश में लगे महावीर लाभ मात्र के राज्य को क्योंकि भीतर का राज्य समझ में आ गया हम नहीं मार सकते हैं राज्य को लाभ हम दीन दरिद्र भिकमंगे बुद्ध भिकमंगे होकर खड़े हो सके क्योंकि भिकमंगापन भीतर न रहा हम भिकमंगे होकर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि हम जानते हैं हम भिकमंगे हैं और अगर बाहर भी भिकमंगे हो गए तो सारी बात ही खुल जाएगी सारा राज ही खुल जाएगा बुद्ध खड़े हो सकते हैं भिकमंगे होके क्योंकि भिकमंगे होने से कुछ राज नहीं खुलता बल्कि भीतर का संघार पूरी तरह प्रकट हो जाता है लाओ से कहता हम अयोग्य होने से डरते हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं अकेले होने से डरते हैं क्योंकि हम अकेले हैं अनाथ होने से डरते हैं क्योंकि हम अनाथ हैं हम जो हैं उसी से हम डरे हुए हैं अनाथ का अर्थ है हेल्पलेस असहाय लेकिन हम स्वीकार करने में स्वीकार करने से बचना चाहते हैं कि हम असहाय कि अकेले कि अयोग्य और ठीक इससे विपरीत अवस्था पैदा करने की कोशिश में हम जीवन को गंवा दें लाव से कहता है जो तथ्य है उसे स्वीकार करो तथ्य की स्वीकृति मुक्तिदायी और इसका ये मतलब नहीं कि लाओस से कहता है तुम अयोग्य रह जाओगे कि अकेले रह जाओगे कि अनाथ रह जाओगे लाओस से ये कहता है कि जिस दिन तुम समझ गए कि तुम अकेले हो फिर तुम अकेले नहीं ये जरा जटिल क्योंकि जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो ये जीवन का तथ्य उसी दिन अकेलापन मिट गया दूसरे को खोजते थे इसलिए अकेलापन मजबूती से बना रहता था अब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो जीवन का तथ्य दूसरे की खोज छोड़ दी धीरे धीरे तुम भूल ही जाओगे कि तुम अकेले हो और जिस दिन तुम भूल जाओगे तुम अकेले हो उस दिन दूसरा भी मिट जाएगा तुम भी मिट जाओगे और वही रह जाएगा जो स्वभाव जो ताव जो सबके भीतर छिपा है वो कभी अकेला नहीं हम अकेले इसलिए कि हम लहर की भांति अपने को अलग मान लिए सागर से और फिर दूसरी लहरों के साथ एक होने की कोशिश कर रहे हैं खुद भी क्षण भंगुर लहर दूसरी क्षण भंगुर एक दूसरी लहर के साथ निकटता बना रहे ताकि अकेलापन मिट जाए खुद क्षणभंगुर दूसरे क्षणभंगुर तत्व से मिलकर अकेलापन मिटा रहे लाओ से कहता है कि लहर जिस दिन समझ ले कि अकेली है ये स्वभाव है दूसरी लहर की चिंता छोड़ दे उसी दिन उसके नीचे के सागर का बोध शुरू हो जाए दूसरे पे आंख गड़ी रहे तो भीतर आंख नहीं जाती दूसरे के कारण ही बाहर भटकती है इसलिए अगर इस अकेलेपन के गूढ़ता को समझे तो पर्वत पर जाना संसार को छोड़ने के लिए नहीं सिर्फ अकेले होने के लिए सार्थक है वो कोई त्याग नहीं है वो सिर्फ अकेले होने के अनुभव में उतरने की व्यवस्था है वो दूसरे से भागना नहीं है वो अपने में उतरने के लिए सिर्फ सुविधा जुटाना है ताकि मैं अपने अकेले कम को उसकी पूरी नग्नता में जान लू जहाँ कोई दूसरा न होगा दूसरे का मैं चिंतन न करूंगा वहां मैं अपने अकेले कम को उसकी पूरी नग्नता में पूरी प्रगाढ़ता में जान लू और जिस दिन को उसे उसकी पूरी प्रगाढ़ता में जान लेता स्वीकार कर लेता उसी दिन अकेला नहीं रह जाता उसी दिन मूल स्वभाव में उतर जाता फिर कोई दूसरा नहीं है मैं ही हूँ और जो जान लेता है कि अयोग्यता होगी ही क्योंकि मैं पूर्ण नहीं लहर कैसे योग्य हो सकती और लहर कुछ भी पाले उसके पाने का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि लहर खुद मिट जाने वाली है उसका पाया हुआ भी उसके साथ मिट जाने वाला है लहर कुछ भी उपलब्ध कर ले उसकी उपलब्धि कोई कीमत नहीं रखती तो आप कितने ही योग्य हो जाएं आप ही खो जाएंगे और जहां आधारशिला खो जाने वाली है वहां जो भवन योग बताता है उसका क्या मूल्य है थोड़ी देर के लिए दूसरों की आंखों में चमक सकते हैं लेकिन दूसरों की आंखों का क्या मूल्य है आंखें भी कल मिट्टी हो जाएंगी थोड़ा इतिहास झांक कर देखें क्या मूल्य है नेपोलियन का या सिकंदर का क्या मूल्य है न होते तो क्या फर्क अगर आप भी नेपोलियन रहे हो कोई न कोई तो रहा होगा तो आज आपको क्या मूल्य आज आपको कोई ये बता के दे कि आप नेपोलियन थे ये प्रमाणित हो जाए तो आज आप हंसेंगे कल यही आपके साथ हो जाने वाला है कल आप मिट्टी में गिर जाएंगे आपकी प्रतिष्ठा योग्यता यश सम्मान समाधान सब मिट्टी में गिर जाएगा आपके साथ जिन्होंने दिया था वे भी मिट्टी में गिर जाएंगे जहां सभी कुछ मिट्टी में खो जाता हो वहां हम इतने दीवाने होकर लगते हैं कुछ चीजों के पीछे ये भूल ही जाते हैं तो उनकी कोई शाश्वतता नहीं है उनका कोई सार्थकता नहीं है उनका कोई मूल्य नहीं क्योंकि वे कहीं टिकने वाली नहीं है लाओस एक धक्का है योग्यता की दौड़ अहंकार की दौड़ है अयोग्यता की स्वीकृति विनम्रता का भाव है कि मैं अयोग्य हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा अयोग्य आदमी कुछ भी ना कर पाएगा लाउस से तथा यही कर पाएगा क्योंकि योग्य आदमी तो योग्यता संभालने में ही जीवन की ऊर्जा को खो देता है राजनीतिज्ञ क्या कर पाते हैं धनपति क्या कर पाते हैं क्या है उनकी उपलब्धि क्या है जोड़ लगते हैं बहुत करते हुए हाथ आखिर में कुछ भी आता नहीं लेकिन जो आदमी स्वीकार कर ले विनम्रता से जो भी मैं हूं हूं उसके जीवन से बहुत कुछ होता है करने का भाव नहीं होता वहां सिर्फ जीवन से होता है जैसे वृक्षों में फूल लगते लाओसे के जीवन में ये फूल लगा ये ताओ उपनिषद का ताओ तिकिंग का ये कोई चेष्टा से नहीं हुआ इसलिए कोई प्रयास नहीं किया गया इसलिए कोई दौड़ धूप नहीं की ये ऐसे ही हुआ जैसे वृक्ष में फूल आ जाता ये लाओ से की जो जीवन की ऊर्जा है उसका सहज प्रस्फुटन है इसके पीछे कहीं कोई कर्ता का भाव नहीं ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा लाभ से में हो सकता था न लाओ से लिखना जानता है नगा उससे बोलना जानता है लेकिन फिर भी ये महानतम वचनों की श्रृंखला उसमें पैदा हुई इसके लिए कोई भी आयोजन उसने किया नहीं संयोग वसा ताओ किंग का जन्म हुआ हैपनिंग डूइंग नहीं एक घटना है जो घटी जिसके लिए लाओ से भी नहीं कह सकता कि क्यों न घटती तो कोई हर्ज न था घट गई तो कोई कोई सम्मान कोई प्रतिष्ठा उसके लिए मिलनी चाहिए ऐसी कोई आकांक्षा नहीं बड़े मजे की बात है कि लाओ से इन वचनों को बोल के खो गया फिर उसका पता नहीं चला ये उसके आखिरी वचन है इसके बाद उस चीन से खो गया कोई कहता है भारत की तरफ लाभ से आया कोई कहता है हिमालय या तिब्बत लेकिन इतिहास से खो गया इतने बहुमूल्य अमृत वचन देके फिर वो ये भी नहीं रुका कि कोई क्या कहेगा किसी ने सुने किसी ने पढ़े किसी का जीवन रूपांतरित हुआ कुछ हुआ लाभ या हानि इससे भी कोई प्रयोजन नहीं था जैसे पक्षी गीत गाते हैं वृक्षों में फूल लगते हैं नदियां बहती हैं ऐसा से में ताओ किंग लगा और बहा जो व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था को स्वीकार कर लेता है जैसी भी है उसके जीवन में बहुत कुछ होगा लेकिन उस होने से अहंकार का कोई संबंध नहीं वो होगा स्वभाव से वो होगा परम प्रकृति तब वैसा व्यक्ति ये भी कह सकता है कि परमात्मा मुझसे काम ले रहा वही कर रहा है लाओ से तो ये भी नहीं कहता क्योंकि इसमें भी अस्मिता आ सकती है कि परमात्मा मुझसे काम ले रहा है किसी और से काम नहीं ले रहा ब्लाउज से तो कहना स्वभाव में ऐसा हो रहा है इसमें कुछ विचारणी नहीं और अनाथ असहाय हम सब तरह से उपाय करते हैं इस बात को छिपाने का हम असहाय धन से पद से प्रतिष्ठा से चारों तरफ एक बागुल लगाते हैं उसके भीतर हम सुरक्षित मालूम पड़े और लगे कि हम कोई असहाय नहीं कोई अनाथ नहीं लेकिन आदमी असहाय है मौत आएगी और हम किसी भांति उससे रोक न पाएंगे विलियम जेम्स एक पागल खाने को देखने गया खुद बहुत बड़ा मनस्वी लौट के बहुत चिंतित हो गया और फिर कहते हैं जीवन भर वो चिंता उसे छूटी नहीं और चिंता इस बात की कि पागल खाने में उसने लोगों को देखा और उसने ये ख्याल आया एक मित्र को देखकर क्योंकि कल तक वो ठीक था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पागल हो जाए कल्पना भी नहीं हो सकती थी वो पागल हो जाएगा बिल्कुल ठीक था और पागल हो गया तो विलियम जेम्स को एक ख्याल पकड़ गया कि अगर मैं भी कल पागल हो जाऊं तो उपाय क्या है मैं क्या कर सकूंगा और पक्का क्या है कि मैं कल नहीं हो जाऊंगा क्योंकि कल ये मेरा मित्र भी ठीक था और कभी सोच भी नहीं सकता था कि पागल हो जाए मैं भी कल पागल हो जा सकता हूँ मेरी सामर्थ्य क्या है और उपाय क्या है करने का कि मैं न हो जाऊं जो भी किसी मनुष्य को कभी घटा है वो आपको भी घट सकता है किसी भी मनुष्य को जो भी घटा है रास्ते पर तो कोई भीख मांग रहा है तो आप भी मत सोचेंगे वो उसको घटा आपको नहीं कर सकता कल आप भीख मांग सकते आज सोच भी नहीं सकते आज सोचने का कोई कारण भी नहीं सोचे तो भी ख्याल में नहीं आया क्योंकि सारी सुविधा है सब सुरक्षा है कोई वजह नहीं व्यर्थ की बात तो सोचने की लेकिन ये घट सकता है सम्राटों ने भीख मांगी शक्तिशाली लोग दीन दरिद्र हो गए रूस में लेनिन के पहले सत्ता में आने के पहले करेंस की प्रधानमंत्री था बड़ी शक्तिशाली शक्तिशाली आदमी था क्रांति भी कम्युनिस्ट क्रांति में करेंस की खो गया फिर लोग उसको भूल ही गए कि करेंस की कभी कोई ताकत थी उन्नीस सौ में पता चला कि अमेरिका में वो किराने का काम करते दुकानदार है छोटा सा अब किराने का काम बेचने का काम उन्नीस सौ साठ में उन्नीस सौ सत्रह से खोया हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता कि लेलिन दुकान पर बैठ के कहीं किराना बेच रहा होगा करेंस की एकदम लेलिन से बड़ी ताकत का आदमी जब लेलिन कुछ भी नहीं था तब करेंस की प्रधानमंत्री मनुष्य को घटा है वो आपको भी घट सकता है कोई दुख कोई पीड़ा कोई कोई आघात पागलपन मृत्यु दीनता दरिद्रता कुछ भी मनुष्यता को जो भी हो सकता है वो प्रत्येक मनुष्य को हो सकता है असहाय हम बिल्कुल नहीं और जब हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारी नाव किसी भी क्षण डूब सकती क्योंकि नावें रोज डूबती और एक न एक दिन सभी नाव को डूबना ही पड़ता है अगर किसी तरह हम बचा भी लिए तो बचा के पहुंचेंगे कहा कितने ही बच के जाए आखिर में मौत में पहुंच जाते हैं सब बचाओ मौत में ले जाते असहाय होना हमारा जीवन का अनिवार्य तत्व है अल्लाह उससे कहता है अनाथ अयोग और अकेला होने से मनुष्य सर्वाधिक घृणा करता है और ये तथ्य और जो तथ्य से घृणा करता है वो सत्य को कभी भी नहीं जान सकता तो भी राजा और भूमिपति अपने को इन्हीं नामों से पुकारते लेकिन चीन के सम्राट अपने को इन्हीं नामों से पुकारते रहे अनाथ अयोग अकेला किसी कारण से इसलिए नहीं कि वे बहुत बुद्धिमान थे बल्कि किसी कारण से क्योंकि चीन चीनी ज्योतिष ऐसा मानता है कि हमेशा अपने को उस जगह मानो जहां से प्रगति की संभावना हो कभी भी पूर्णिमा का चांद अपने को मत मानो क्योंकि उसके बाद सिवाय पतन के और कुछ भी नहीं होता सदा दूज के चांद अपने को मानो तो बढ़ सकते हो इसलिए चीन के सम्राट अपने को सदा अन्यथ आयोग और अकेला मानते रहे ताकि बढ़ती की संभावना रहे किसी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं लेकिन पुरानी परंपरा के कारण पर परंपरा बुद्धिमानों से जन्मी है क्योंकि जिन्होंने ये कहा कि अपने को दूज पहचान चांद की तरह समझो उन्होंने बड़ी कीमत की बात कही उन्होंने ये कहा था कि तुम सदा फैल सको सदा बढ़ सको गुंजाइश हो स्पेस हो जगह हो सिकुड़ न जाओ इसलिए विनम्र आदमी बढ़ सकता है अहंकारी नहीं बढ़ सकता वहां जगह नहीं है बढ़ने की जो भी हो सकता था जो होने की संभावना थी वो मानता है वो है ही जो अपने को अज्ञानी मानता है वो कभी ज्ञानी हो सकता है लेकिन जो ज्ञानी अपने को इसी क्षण मान रहा है उसके सारे द्वार बंद हो गए जो अपने को शून्य मानता है वो पूर्ण हो सकता है सब द्वार खुले कहीं से भी जीवन को रोकने का कोई उसने इंतजाम नहीं किया जीवन सब तरफ से आए तो उसका निमंत्रण क्योंकि चीजें कभी घटाई जाने से लाभ को प्राप्त होती है और बढ़ाई जाने से हानि को दूसरों ने इसी सूत्र की शिक्षा दी मैं भी वही सिखाऊंगा हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है इसे ही मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानूंगा लास्टे के सभी वचन बहुत सूक्ष्म चुकती और उसके इशारे न समझे जाएं तो भूल चूक हो सकती लाभ से कहता है वही आदमी अहिंसक है जो अपने को अकेला अनाथ और अयोग्य मानता है बड़ी अनूठी बात है क्योंकि अहिंसक के हम सीधा इसका कोई संबंध न जोड़े लेकिन गहरा संबंध है जो आदमी अपने को योग्य मानता है वो हिंसक होगा इस घोषणा में ही कि मैं योग्य हूं उसने हिंसा शुरू कर दी इस घोषणा के साथ ही वो दूसरे को अयोग्य सिद्ध करने में लग जाएगा संघर्ष शुरू हो गया जिस आदमी ने कहा कि मैं अनाथ नहीं हूं मैं नाथ हूं स्वामी हूं मालिक हूं उसने हिंसा शुरू कर दी इसे वो सिद्ध करेगा मालिक होकर ही सिद्ध किया जा सकता है दूसरे का मालिक होना ही हिंसा है क्योंकि दूसरे को मिटाए बिना कोई भी मालिक नहीं हो सकता स्वामी बनने की चेष्टा विध्वंसक है दूसरे को नष्ट करना ही पड़ेगा तोड़ना ही पड़ेगा अंग भंग करने पड़ेंगे दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेनी पड़ेगी और दूसरे के व्यक्तित्व को नष्ट करके एक वस्तु बना देना होगा तभी कोई स्वामी हो सकता हम सभी इसी कोशिश में लगे होते हैं कि हमारा स्वामित्व का दायरा बड़ा हो जाए उसका मतलब हमारी हिंसा का दायरा बड़ा हो जाए हम ज्यादा लोगों को काट पीट सके ज्यादा लोग हमारी मुट्ठी में होंगे जब भी हम हाथ दबाएं वो हम खत्म कर सके मुला नसुद्दीन को उसके सम्राट ने बुलाया खबर पहुंची सम्राट तक कि वो बहुत बुद्धिमान है नसरुद्दीन बुद्धिमान है सम्राट ने कहा कि लाओ तलवार सब बुद्धिमानियों को नष्ट कर सकते तो तलवार का भरोसा ही था उसे नंगी तलवार लेकर बैठा नसरुद्दीन लाया गया उस सम्राट ने नसरुद्दीन से कहा कि तुम एक वक्तव्य दे सकते हो एक वचन एक वाक्य बोल सकते हो और सुना है मैंने कि तुम बुद्धिमान हो तो एक वचन बोलो अगर वचन सत्य हुआ तो तुम्हें तलवार से काटा जाएगा और अगर वचन झूठ हुआ तो तुम्हें सूरी पर लटकाया जाए एक वचन बोलने की तुम्हें आज्ञा है सुना है मैंने कि तुम बुद्धिमान सूर्य उसने तैयार करवा रखी थी नंगी तलवार लिए आदमी सामने खड़ा नसुद्दीन ने जो वचन कहा वो बहुत अद्भुत है नसुद्दीन ने कहा I am going to be and मुझे सूर्य होने वाली है सम्राट को मुसीबत में डालते हैं क्योंकि उसने कहा था अगर तू सच बोले तो तुझे तलवार से काटा जाएगा अगर तू झूठ बोले तो तुझे सूली लगाई जाएगी वो कहता है मुझे सूली लगाई जाने वाली अगर उसको तलवार से काटा जाए तो वो सच बोला था और अगर उसे सूली लगाई जाए सूली तभी लगाई जा सकती जब वो झूठ बोला सम्राट ने कहा कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया और मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं इंसान तलवार के सिवाय में कुछ नहीं जानता लेकिन तुम चाहो तुम निश्चित बुद्धिमान हो हमारी बुद्धिमानी भी सिर्फ दूसरों की हिंसा से बचने में लगती दो ही तरह के लोग हैं एक उनकी जिनकी सारी शक्ति हिंसा करने में लग रही है और दूसरे जिनकी बुद्धिमानी अपने को बचाने में लग रही है बाकी सारा खेल हिंसा का है या तो हम से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं मगर सारा जीवन या तो हम स्वामी बनना चाहते हैं या कोई हमें गुलाम न बना दे इसकी फिक्र में पर दोनों हालत में हमारा संदर्भ सदा हिंसा है लाओ से कहता है जो अपने को अनाथ आयोग और अकेला मान लेता है वो हिंसा से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति न तो दूसरे की मालकियत बनने की फिक्र में लगता है और न अपने को बचाने की फिक्र में लगता है क्योंकि वो जानता है बचने का कोई उपाय ही नहीं मौत आएगी ही न वो किसी को मारने जाता है क्योंकि मौत सभी को मार डालेगी उसके काम को बीच में करने की कोई जरूरत नहीं है और न वो अपने को बचाने की बहुत चिंता में लगता है क्योंकि मौत ये काम भी कर देगी अहिंसा का जन्म तभी होता है जीवन में जब ना तो हम किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं और न हम किसी के गुलाम बनना चाहते हैं न गुलाम बनने से बचना चाहते हैं हम हिंसा की भाषा में सोचते ही नहीं और जो व्यक्ति भी अनाथ आयोग और अकेला मानने को राजी हो जाए वो एक सूक्ष्म द्वार से जैसे हिंसा के जगत के बाहर हो जाता है इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे नहीं मार डाल सकते हम उसे मार डाल सकते हैं लेकिन फिर भी हम उसे छू नहीं सकते हम उसकी गर्दन काट सकते हैं लेकिन फिर भी हम उसे नहीं काट सकते गर्दन कटते क्षण में भी उसे हम चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसने इसे स्वीकार ही कर लिया था कि जीवन का अनिवार्य अंग है मृत्यु वो कैसे घटती है ये कौन घटना उसका अनिवार्य है वो सुनिश्चित है दूसरों ने भी इसी सूत्र की शिक्षा दी है मैं भी वही सिखाऊंगा हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है इस सूत्र में बहुत सी बातें हैं जो दूसरों का मालिक बनना चाहता है वो आखिर में पाता है कि दूसरे उसके मालिक बन गए जो किसी को गुलाम बनाता है वो उसका गुलाम बनता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसका ही प्रतिफल हम पर लौट आता है यही होगा भी जीवन का सीधा नियम है हम जो जीवन की तरफ फेंकते हैं वही जीवन हमें लौटा देता है जो भी हमें मिलता है वो हमारा ही दिया हुआ है जो जीवन के हाथों वापस आया है चाहे समय कितना ही लगा हो और हम भूल भी गए हो कि हमने ही दिया था जब कोई गाली आपके पास आती है तो शायद आपको याद भी ना हो क्योंकि हो सकता है बड़ा समय बीत गया हो जन्म जन्म बीत गया लेकिन जो दिया है वही वापस लौट आता है हम हिंसा करते हैं हिंसा हमारे ऊपर चारों तरफ से बरस जाती है हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसक होती है जो हम बोते हैं उससे अन्यथा काटने का उपाय नहीं और अगर हम हिंसा काट रहे हो हमारे ऊपर हिंसा बरस रही हो तो उसका अर्थ है कि उसे भी हम चुपचाप स्वीकार कर ले कि हमारा पिछला हिसाब है जो साफ हुआ जा रहा है लेकिन प्रतिकार ना करें और संगना का कोई अंत नहीं आता इसे ही मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानूंगा लाओ से कह रहा है ये सूत्र मार्ग निर्देशक है तुम न किसी के मालिक बनना न तुम किसी से अपने को योग सिद्ध करना न तुम अपने को इस बुलावे में डालना कि दूसरे का संग साथ हो सकता है तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे जीवन से हिंसा विसर्जित हो गई और जैसे ही हिंसा विसर्जित होती है वैसे ही तुम्हारी आंखें धुएं से मुक्त हो जाती हैं और वो सत्य चारों तरफ छिपा है वो दिखाई पड़ना शुरू लेकिन सिद्धांतों को तो हम सिर का बोझ बना लेते हैं जीसस भी यही कहते हैं कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही काटा जाएगा महावीर यही कहते हैं बुद्ध यही कहते हैं लेकिन सिद्धांत तो शास्त्र बन जाते हैं फिर उनको हम कंधों पर रख देते हैं फिर हम उन्हें ढोने लगते हैं फिर हम भूल जाते हैं उनकी कोई उपयोगिता है वो कंधों पर रख कर धोने के लिए नहीं है कभी कभी हम उन्हें अनुभव भी करते हैं सुना है मैंने कि मुला नसुद्दीन जब छोटा था उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा कि बेटा मैं थोड़ा नदी तक जाती हूँ तू जरा दरवाजे पर ध्यान रखना नसुद्दीन बैठा रहा आधा घंटा घंटा फिर बेचैनियों से हो गई आखिर कब तक वो दरवाजे पे ध्यान रखे चला फिरा दरवाजे का चक्कर भी लगाया बाहर भीतर गया लेकिन ध्यान दरवाजे पर रखना था एक सिद्धांत की बात माँ कह गई आखिर बेचैनी बढ़ गई दो घंटे पूरे होने लगे तो झोपड़ा तो था उसने दरवाजे को हिला के निकाल लिया कंधे पर रखा बाजार की दृष्टि उधर से मां लौटती थी नदी के किनारे उसने कहा नसुद्दीन ये तू क्या कर रहा है मैंने तो उसने कहा दरवाजे पे ध्यान रखना उसने कहा कब तक ध्यान रखते मैंने उसने कहा दरवाजा साथ ही रखो ध्यान रखने की कोई जरूरत ही नहीं तो जहां जाओ दरवाजा साथ ही रहेगा फिक्र भी कुछ नहीं ध्यान रखे हुए हूं वो मकान और असुरक्षित हो गया हम भी मार्ग निर्थक सूत्रों पर ध्यान रखे हुए हम सबको पता है क्या ठीक है पर वो हमारे कंधे पे पता है उसमें हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं और जीवन में हम पूरी चेष्टा यही कर रहे हैं जो कहा गया है कि मत करना है फिर हम दुख पा रहे मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम जीवन में सब अच्छा कर रहे हैं फिर भी हम दुख पा रहे ये नहीं हो सकता इसका मतलब गलत ही या वो गलत की भी व्याख्या ऐसी कर रहे हैं लेकिन उनके साथ से मेल खा जाती है लेकिन वो कर तो गलत ही रहे अब ये हो सकता है कि आप राजनीतिक बन के लोगों के मालिक न बने ये हो सकता है धन इकट्ठा करके लोगों के मालिक न बने आप गुरु हो जाए और लोगों की गर्दन जगड़ दे तो एक ही बात और गुरु जिस बुरी तरह गर्दन पकड़ सकता कोई भी नहीं पकड़ सकता गुरु से बचने का उपाय नहीं क्योंकि आप हमेशा गलत हैं वो हमेशा ठीक है और कुछ लोग सिर्फ इसलिए ठीक रह सकते हैं कि वो आपको गलत करने का मजा है आपका गुरु बिल्कुल नियम के अनुसार चल सकता है सिर्फ इसलिए उसको आपको भी नियम के अनुसार चलाने का मजा लेना बहुत से गुरु विदा हो जाए अगर उनके शिष्य चले जाए उनके सब नियम टूट जाए क्योंकि उन नियमों का केवल एक रस था उनके माध्यम से मालिकियत मिलती थी आप तीन बजे रात उठ सकते हैं अगर हजार आदमियों को आपको तीन बजे रात उठाने का मजा लेना हो और तब आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा तीन बजे आप इतने मजे से उठाएंगे जिसका हिसाब नहीं और लोग से आप यही सोचेंगे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मजा ले रहे हैं लेकिन मन बहुत अद्भुत वो एक हजार आदमियों को सताने का मजा ले रहा है उनको तीन बजे रात उनको भी उठना पड़ेगा आप रास्ते निकाल सकते हैं बुरा करने के इस भांति की वो अच्छी मालूम लेकिन आदमी की बड़ी गहरी तलाश अहंकार की पूर्ति की ही बनी रहती है दूसरे को नीचा दिखाने की बनी रहती है वो कैसे नीचे दिखाता है ये बात दूसरी धन से नीचे दिखाता है पद से की ज्ञान से ये बात दूसरी की त्याग से मगर दूसरे को नीचे दिखाने का जो रस है वो कायम बना रहता है और जब तक वो न मिट जाए तब तक जीवन से हिंसा का कोई अंत नहीं हिंसक मनुष्य की मृत्यु हिंसा से होती है इसे ही मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ इस सूत्र को लाओ से कहता है अगर कोई व्यक्ति ठीक से जीवन में और उठाने की जरूरत न रह जाएगी सूत्र काफी गुरु है आज इतना है